कछु कही सकत न देखी राम रुक लक्ष्मण धाये पावक प्रगट काठ बहुलाए पावक प्रबल दीर्घ बह दे हृदय हरस नहीं भय कछुते जो मन बच क्रम मम और माई तज रघुवीर आन गति नाई तो कृतान सब कह गति जाना मोकौ हो श्रीखंड समाना खंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली जय कोसलेश महेश बंदित करण रतियति निर्मली प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक मऊजरे प्रभु चरित काहुन लके नभ सुर सिद्ध मुनि देख करे हरि रूप पावक पानी गह श्री सत्य श्रुति जग विदिजो जिम क्षीर सागर इंदिरा रामी समर समर्पिया निशोर नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली बरसही सुमन हरसि सुर बाजही गगन निशान गावही किन्नर सुर बधू ना नाचही चढ़ी विमान जनक सुता समेत प्रभु शोभाय मितय पार देश भालु कपि हर से जय लघुपत सार सुखसार आदर चंद्र की जय पवन सुख सब संतन की जय प्रभु के वचन शीशधर सीता हाँ, शीशधर ने स्वीकार किया सीता जी ने स्वीकार किया अग्नि परीक्षा दी मानव भगवान ने जब उनको दुर्वचन कहे तब ये भी सीता जी ने कहा कि तुम्हें अपनी सत्यता का परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना अग्नि परीक्षा तुम्हारी तो पिताजी से स्वीकार कर लिया परीक्षा हो प्रभु के वचन हरि मन स्वीकर स्वीकार के साथ स्वीकार करने को स्वीकार करते सीता जी ने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया कैसे करेंगे तो फिर सीताजी कहने लगी बोली मन क्रम वचन पुलिता तो पिताजी तो मन कर्म से सब प्रकार से पवित्र थी तो उन्होंने उसी प्रकार से उन्होंने कैसे बोली कहा लक्ष्मण जी से कैसा लक्ष्मण हो धर्म की नेगी कि हे लक्ष्मण तुम धन के नेगी बनो नेगी शब्द का प्रयोग आ गया है नेग से नेगी बने नेग और शादी विवाह में जो ऐसे कार्य होते हैं वहां पर नेग बांटे जाते कुछ परिवार के लोगों को उनको भी नेग दिया जाता है जो अपने रिश्तेदार हैं उनको भी दिए जाते हैं कुछ परिजन परिजन होते हैं उनको भी नेग दिए जाते हैं तो वहाँ जो जो कार्य करते हैं उस समय वैवाहिक कार्यक्रमों में करते हैं या इस प्रकार के आयोजनों में जो लोग कार्य करने वाले जो कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य करने में उसके बदले में उनको कुछ प्राप्त होता है तो सब उसमें सहयोगी होते हैं तो नेग करने वाले सहयोगी नेगी कहलाते हैं जिनको नेग मिलता नेगी और जो नेगी है वो सहयोगी है मैंने उस कार्य में सहयोगी होते हैं और सहयोगी होने के साथ साथ उनको कुछ उसके बदले में भी प्राप्त होता है कितना भी था वैसे ही सीता जी यहाँ सीता जी जो है उनका सीता जी का कार्य अग्नि में प्रवेश करना है ये तो उनका मुख्य कार्य है लेकिन उसमें कोई सहायक होना चाहिए तो लक्ष्मण जी को सहायक बना दिए तो नेगी के मैंने सहायक भी और उसके बाद ये अगर लक्ष्मण जी सहायक बनते हैं तो फिर लक्ष्मण जी को उसमें मिलेगा क्या तो सीता जी कहते हैं कि देखो हमारे भी धर्म की रक्षा होगी और वो धर्म तुम्हें भी प्राप्त होगा तो मई का फल प्राप्त होने के लिए तो लक्ष्मण हो धर्म की नेगी तो लक्ष्मण जी को अब लक्ष्मण जी के लिए संकट आ गया आदेश तो सीता जी का हुआ इस प्रकार से तुम करो और पावक प्रकट करो तुम देगी तुम शीघ्र ही अग्नि प्रकट करो मैंने अग्नि तैयार हो जल करके हो तो हम अपने में प्रवेश करें अग्नि परीक्षा हो जाए वैसे जिस प्रकार की सीता जी की अग्नि परीक्षा है ये है ये तो एक प्रयोजन से है प्रयोजन के माने सीता जी अग्नि में प्रवेश पहले की थी तो उसी से अग्नि से सीता जी को पुनः प्राप्त करना है उनको निकालना है इसलिए इस प्रकार की अग्नि परीक्षा हो रही है वैसे अन्य में जहाँ कहीं प्राणन त्याग में प्राचीन काल के इतिहास और अग्नि परीक्षा आती है वहाँ अग्नि में प्रवेश करने की अग्नि परीक्षा कहीं नहीं अग्नि परीक्षा अगर कहीं है तो बस इस प्रकार का है कि हाथ के ऊपर एक पीपल का पत्ता रखा उसके बाद गर्म लोहा उसके ऊपर रखा और कहा इस लोहे को पकड़ने के लिए कहा बस इतने मात्र में अगर कोई निर्भय होकर उसे पकड़ लेता तो अग्नि परीक्षा हो गई और अगर डरता जहाँ आग आई उसके बाद में हाथ आया आदमी के पास कहा वहाँ हटा लेता तो उसकी शंका हो जाती पता चल जाती मनोभाव की व्यक्ति सत्ता की क्षमता है तो उसके मनोवैज्ञानिक परीक्षा हो जाती लोग समझ जाते हैं कि पकड़ना नहीं चाहता इसके मन वही है स्वयं गिरती है इसलिए नहीं पता जाता और हाँ? पकड़ भी ले ज्यादा से ज्यादा जल भी जाए तो भी लोग कहेंगे कि इसको निर्भय था इसमें दोष नहीं था इसलिए पकड़ लिया तो जल जाना कोई इस बात का प्रमाण नहीं है कि गलत था कोई निर्भय से उसने पकड़ लिया बस उसकी बात ये है कितनी मात्रा हुई परीक्षा थी लेकिन इस समय यहाँ पर सीता की अग्नि परीक्षा को ऐसे हाथ लुआ छूने की बात थोड़ी तो अग्नि में प्रवेश करती है अग्नि में प्रवेश इसलिए करती है पहले अग्नि में प्रवेश करते हैं उसमें से निकलना सबसे सीता जी का निकलना ये आगे बोल भी देते हैं जब तक होते करो इसलिए सीता जी प्रसन्नता पूर्वक जैसे अग्नि से निकली थी वैसे अग्नि में प्रवेश कर जाने के लिए सीता जी को इसमें कोई दुख की बात नहीं और कोई बुरा लगने की बात भी नहीं सीता जी समझ गई कि भगवान राम चाहते हैं हमको ब्रह्म अग्नि में प्रवेश करें और जो वास्तविक सीता जी सत्य सीता है मूल रूप से अतीत से निकल करके बाहर आवे इसलिए प्रसन्नता पूर्वक सीता जी में प्रवेश कर जाते हैं तो पावक प्रकट कर तुम देगी ये लक्ष्मण जी से कहा कि इसमें देर न लगा कि जैसे भगवान का आदेश हुआ तो इसमें झिझकने की आवश्यकता है अब देर लगाने लगे लक्ष्मण जी देर आग लगा में और सीता जी उसमें प्रवेश करने में भी विलम्ब करें तो इससे पता लगे कि इनके मन में कुछ कालिमा मन उसमें संदेह इनको करें इसलिए अपने आप को शुद्ध शुद्ध करने के लिए कहा जल्दी अग्नि जलाओ जल्दी अंदर बैठो अग्नि की बात तो सुन लक्ष्मण सीता कह बानी अब लक्ष्मण जी को तो सब पता नहीं था कि सीता जी कैसे अग्नि से निकली और कैसे अग्नि में प्रवेश करने जा रही हैं तो उनको जब सीता जी की बात जब लक्ष्मण जी सुनी तब धीरज विवेक धर्म निशानी तो लोचन सजल देखा सीता जी की वाणी के में चार बातें बताई मेरे को सीता जी की बात में चार बातों की तरफ ध्यान दिया कि सीता जी के इसमें वचनों में विरह भी है और दूसरे विवेक भी है और दूसरे फिर उसमें धर्म की बात भी है और फिर नीति की बात भी है नीति धर्म विवेक ये सब तीनों तो है ही है और साथ साथ जो हो विरह से तात्पर्य यहाँ भक्ति भी है कि भगवान श्री राम जी इसको जल्दी ही प्राप्त हो भगवान राम सीता जी को जल्दी ही स्वीकार कर लें इस बात का सीता जी के मन में जो भगवान राम के कभी भक्ति भाव है जो विरह से सूचित होता है अंत लोग परमात्मा के प्रति जो वियोग है उससे दुखी होते हैं चाहते हैं कि भगवान जल्दी हमको स्वीकार कर लें जल्दी हमको स्वीकार कर लें तो ये भक्ति भावना विरह की विवेक ज्ञान की भावना सीता जी में ज्ञान भी और धर्म भी है नीति भी बस यही चार बातें जीवन में चाहिए इनका ध्यान रखें नीति का भी ध्यान रखें नीति के मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या विधान व्यवहार जीवन का किस प्रकार का है वो नीति कहलाती है और फिर धर्म है धर्म के मैंने कर्तव्य कर्म अपना और जो सत्य हिंसा आदि जो धर्म है उनका पालन करना भी धर्म है और धर्म का प्रयोजन ये भी है कि जीवन की भलाई नहीं आगे आने वाला जो जीवन है वो भी कल्याणकारी बने की बात हो गई और उसके बाद फिर विवेक की माने ज्ञान की बात ज्ञान की माने यथार्थ में सत्य क्या है तो सत्य को ध्यान रखना है एक परमात्मा सत्य है उसी को प्राप्त करना है ये ज्ञान की बात और उस परमात्मा में प्रेम भी होना चाहिए वो फिर में बात आ गई तो ये सब बातें मैंने बहुत उचित बात कही लक्ष्मण जी को ये लगा कि सीता जी के वचन तो बहुत उपयुक्त हैं उनमें ये सभी बातें तो बहुत ठीक हैं लेकिन ये कार्य तो बड़ा कठिन है सीताजी जो है अग्नि में प्रवेश करेंगी ये बड़ा कठिन कारण लक्ष्मण जी को लगा चन सजल उनके नेत्रों में जला और जोड़ कर दो और दोनों हाथ जोड़ करके खड़े अब लक्ष्मण जी जल्दी से जाकर अग्नि अग्नि जलाते नहीं सीताजी के जैसा आदेश वैसे करते नहीं है सीता जी के कहने में और उनको बस आंखों में आंसू आ जाते हाथ जोड़ कैसे प्रभु सन सकत हो अब इसके माने ये लक्ष्मण जी भगवान राम की तरफ देखने लगे हाथ जोड़ कर असल ये नाटकी मैंने ये भी कहते हैं कि रामचरित मानस क्या है महाकाव्य तो सही है लेकिन एक नाटक भी है नाटक के माने अब जैसी घटनाएं घटती जाती हैं उन सबको नाटकी ढंग से उनका एक इस बात का वर्णन करते हैं सीता जी ने जो कुछ कहा लक्ष्मण जी की क्या दशा हुई कैसे आंखों में आंखों में आंसू आते हैं कैसे हाथ जोड़ते हैं कैसे भगवान की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और कहते हैं प्रभु सन कुछ कह सकत न हो और वो भी भगवान श्री राम जी से लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं कह सकते वो के तो माने वे भी, भी तो के माने विभीषण की तो हिम्मत पड़ी नहीं सुग्रीव की तो हिम्मत पड़ी नहीं और और जो हनुमान जी इत्यादि खड़े हुए थे उन्होंने तो ये नहीं मना कि भगवान राम से कहते कि हे भगवान ये सीता जी की परीक्षा आप क्यों ले रहे हो ये वक्त की बात है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इतनी कहने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी वे अपने मन में भले ही समझते रहे हों कि ये तो भगवान राम बड़ा अत्याचार कर रहे हैं बड़ा अनुचित कार्य कर रहे हैं अपने मन ही मन में बड़े कुपित हो रहे हों और भगवान की बात अच्छी न लग रही हो लेकिन अनुशासन दे <clears throat> ये नहीं कि सब बात भगवान की ठीक ये बात गलत है विस्तार विरोध करेंगे ऐसा कोई कहने की नहीं और यहाँ तक किसी की नहीं पड़ी किसी ने भी पड़ी लक्ष्मण जी की भी नहीं वो भी भगवान से नहीं कह सकते कि भगवान ये बात तो ठीक नहीं ऐसे अग्नि परीक्षा तो नहीं दी जाती है ऐसा तो नहीं करना चाहिए हाथ जोड़ कर हाथ जोड़े के माने ये है भगवान से वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान क्या कहते हैं शायद अब शायद टेंशन की स्थिति आ गई बहुत ज्यादा एकदम सुस्त स्थिति में तो शायद भगवान अब कह दें अच्छा रहने तो हम तो वैसे ही कह रहे थे अपनी परीक्षा की बात अच्छा था रहने लेकिन भगवान राम अपने बात पर स्थिर रहे उन्होंने कहा कि की राम रूप लक्ष्मण भाई भगवान राम ने भी जैसे लक्ष्मण भगवान राम का रूप देख रहे थे आज्ञा उनका चाहते थे जैसे भगवान राम ने भी अपने स्थान पर अटल रहे उन्होंने भी नहीं कहा कि रहने दो अग्नि में जला तो संकेत मानो भगवान राम ने कर दिया कि हाँ आंख कह दिया उन्होंने कि मैंने लक्ष्मण जी अग्नि जलावे लावे और सीता जी उसमें प्रवेश करें ये बात भी हुई उनको भगवान राम से भी प्राप्त तो जहाँ भगवान के राम लोग तो लक्ष्मण धाये अब जितना बीच में विलम्ब हो गया था सीता जी ने कहा था कि पावक प्रकट करो तुम बेगी बेग तो लक्ष्मण जी इतना विलम्ब कर दिया तो लक्ष्मण जी को लगा कि देखो इतनी गलती हमसे हो गई इतना विलम्ब तो हो गया तो उस विलम्ब को पूरा करने के लिए लक्ष्मण जी तुरंत दौड़े तक लकड़ियां इकट्ठी थी अग्नि जलाई प्रज्वलित कर लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने हाथ उतारा था पावक प्रगट काठ बहु लाए काठ बहुत लकड़ी लाए काठवा ने सुखी लकड़ी सब इकट्ठे की उसमें प्याज जले आग जली और फिर उसमें पावक प्रकट हुई मैंने ज्वाला जलने लगी उसमें मैंने कोई ऐसे थोड़ी सुलगने लगी आग जलाई जलाते जलाते उसमें आग जल करके उसी लंबी ज्वाला जलने लगी बस ज्वाला जल करके जैसी तैयार हुई तब पावक प्रबल देख दे ही जब सीता जी ने देख लिया तब खूब ज्वाला जल रही पूरी लपट प्रकट हो गई अग्नि पूरी है तब उस अग्नि में उन्होंने हृदय हरस नहीं भय के ही सीता जी को मात्र भी भय नहीं बड़ी कल हृदय प्रसन्नता ही उनको प्रसन्नता कि अभी हम प्रतिबिंब रूप छोड़ करके बिंब रूप धारण कर लेंगे इस बात की प्रसन्नता के साथ में अभी में प्रवेश औरों को कुछ भी लग रहा हो लक्ष्मण कुछ लग रहा हो और उनको कुछ तो सत्य का पता नहीं है इसलिए उनको कुछ लग रहा है लेकिन सीता जी को तो भी जानती है कि यथार्थ बात क्या है अपनी परीक्षा का मन तात्पर्य क्या है दूसरी बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो निर्भय होकर के अग्नि में प्रवेश करती है कहती जो मन बच क्रम मम और माही सज रघुवीर आने गति नाही कहती यदि हमारे मनवाणी कर्म से एकमात्र भगवान श्री राम जी ही कोई हमारी परम गति है उसके अतिरिक्त हमारा मन कहीं अन्यत्र नहीं जाता परम शुद्ध निर्विकार है तो क्या हो तो कहते हैं तो प्रसान सब कह गति जाना प्रसान अग्नि सबके अन्य गए हो आप तो सबकी गति को जानते हो सबके हृदय की बात को भी जानते हो तो क्या करो नो हो श्रीखंड समाना श्रीखंड मन चंदन तो तुम मुझे चंदन की तरह से शीतल जैसे चंदन की शीतल का चंदन लगाओ शीतल लग के किसी प्रकार अग्नि में प्रवेश करें वो शीतल अब जैसे सीता जी ने चाहा था ऐसी अग्नि शीतल हो गई अग्नि जल जरूर रही है लेकिन अग्नि में प्रवेश करने में उनको अग्नि में कोई जल्दी थोड़े लेकिन फिर भी कहते हैं जलती अन्य लोगों को देखते देखते सीता जलती है और दूसरी सीता प्रकट होती है क्या क्या जलता है वो सब आगे वर्णन करते हैं लेकिन सीता जी के लिए वो कुछ जलना नहीं देखो दो दो स्थितियां हैं तो उस राह से कुछ और ही होता है है सत्य कुछ और और दिखाई कुछ और देता है इसलिए कहते हैं दोनों का वर्णन करते हैं श्रीखंड समावक हो गए पावक श्रीखंड के समान अग्निदेव जैसे सीता जी का आदेश हुआ जैसी शिक्षा हुई वैसे अग्निदेव भी चंदन के समान शीतल हो गए प्रवेश कियो और सीता जी उसमें अग्नि में उस शीतल अग्नि में प्रवेश कर गए सुमेर प्रभु मैं चली मैं चली सीता जी भगवान श्री राम जी का स्मरण करती हुई अग्नि में जय कौशलेश महेश पंडित चरण रति निर्मली और अब इस पंक्ति को ये किसने पंक्ति कही है या तो ये कह सकते हैं कि कथा कहते कहते भगवान शंकर जी ये पंक्ति बोल दी हो या तुलसीदास जी ने बोल दी हो कि जय कौशलेश हे कौशलेश महेश बंदित जिनकी भगवान शंकर जी जिनकी वंदना करते हैं ऐसे भगवान श्री राम जी की जय चरण रति अति निर्मली जिनके की भगवान श्री राम जी के चरणों में जिन महेश की शंकर जी की रति बहुत ही पवित्र प्रेम है उन भगवान श्री राम जी की जय अब तो आप शंकर जी ने ये चौपाई न पंक्ति न कही हो तो तुलसी जी ने कह दी हो अपने बीच में लिखते लिखते जोड़ दी हो कभी कभी जो पक्का होता है वो अपनी बात भी तो कहता रहता है दूसरे तुलसीदास जी कथा कहते रहेंगे कहते रहेंगे उनके मन में जो प्रतिक्रिया होती वो भी तो बोलते रहते हैं तो इस समय तुलसीदास जी के मन में आ गया भगवान की जय जयकार बोले कैसे भगवान जिनके भगवान श्री राम शंकर जी की ही जिनके की चरणों में परम पवित्र प्रेम रखने वाले हैं ऐसे भगवान श्री राम जी की और ये भी कह सकते हैं सीता जी ऐसे कैसे हुई अग्नि में प्रवेश कर हैं सीता जी ने सुमिर प्रभु मैथिली भगवान का स्मरण किया और भगवान की जय जयकार बोली जय कौशली कौशलाधीश भगवान श्री राम जी की जय हो जिनके भगवान शंकर जी भी जिनकी शरणों की वंदना करते हैं और उनको परम प्रेम है उनके चरणों में ऐसे भगवान श्री राम जी की जय हो ऐसे कहकर के वो प्रवेश वैसे तो कौशले शब्द को लेकर के और विचार करें तो ये भी हो सकता है कि भगवान कौशलाधीश हैं हाँ। इसलिए अयोध्या के राजा हैं कौशल नरेश हैं इसलिए राजा को भी अपने उसका भी धर्म का निर्वाह करना पड़ता है कोई भगवान राम केवल इतने ही थोड़े कि राम मात्र हैं राजकुमार मात्र हैं पुरुष मात्र हैं या सीता जी के पति मात्र हैं इतनी ही बात थोड़े वो कौशलाधीश भी तो है अब कौशलाधीश जो होगा उसे ये भी देखना पड़ेगा कि उसका जो भगवान जो कुछ आचरण व्यवहार कर रहे हैं वो सारे उनके सारे कौशल राज्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है सब लोग उसको देख रहे हैं सब लोग उसको समझ रहे हैं तो भगवान ने ये ठीक ही कार्य किया माने उनकी व्यापक दृष्टि को देख करके देखें विचार करें कि केवल एकमात्र तत्कालिक बात नहीं कि सीता जी को अग्नि प्रवेश करने में कष्ट हो रहा है और लोगों के मन में कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट के कारण और दूर दृष्टि जो है उनकी नजर तो व्यक्ति की महानता इस बात में है कि उसकी दृष्टि दूर हो व्यापक दृष्टि दूर की बातों को समझ सके उसका परिणाम क्या आगे पीछे क्या होगा तब तो उसकी बुद्धि की महानता है तत्काल का करनी करके तत्काल का व्यवहार करके देख करके उसको व्यक्ति जो आचरण व्यवहार करता है उसमें गलतियां हो ही जाती ये बात भी जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण बात है व्यवहारिक जीवन जैसे कोई फैक्ट्री लगावे कोई प्लानिंग करे कोई इस प्रकार का और कोई बड़ा कार्य शुरू करने जा रहा हो कोई व्यक्ति तो उसके करने के पहले उसको तमाम स्टडी करनी पड़ती है फैक्ट्री लगानी है किसी को प्रोडक्शन करना है तो उसे ये देखना पड़ता है कि जो उत्पादन होगा हमारा किस प्रकार का होगा और उसकी आवश्यकता अपने देश में विदेश में कहाँ कितनी है और इस प्रकार का उत्पादन करने वाले दूसरे कारखाने कौन से हैं और वो जो उत्पादन कर रहे हैं उनकी उत्पादन कॉस्ट कितनी पड़ती है और मार्केट में उन लोगों से हमको कंपटीशन करना पड़ेगा तो हमारी वस्तु मार्केट में जाएगी तो लोग बिकेगी कि नहीं बिकेगी तो कहाँ बिकेगी और अगर हमारे जैसी फैक्ट्री को जूठा एक और लगा लेता है और हमसे भी सस्ती लेकर के सामान बेचने को तैयार हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होगी रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा लेबर कहाँ मिलेगा ये सब बातें यानी कितनी बातें उसके पुरुष में पहले उसको तो सबकी स्टडी करनी पड़ती है और अगर कोई इन सबकी स्टडी बिना किए हुए एक फैक्ट्री लगा ले तो जानता कि मैं ये जानता हूँ कि चीज बना सकता हूँ बना ले और बाद में पता चले कि पच्चीस तरह के में अड़चने पड़ रहे हैं उसके लिए लेबर नहीं मिल रहा रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा सामान लॉ मटेरियल मिला भी हो उसको तैयार भी हो गया तो मार्केट नहीं मिल रहा तो फिर उसको क्या उसकी प्लानिंग गलत सफलता से डिपेंड करती है प्लानिंग के ऊपर और प्लानिंग जितनी व्यापक होगी आगे तक के सोचो अगर तत्काल किसी ने व्यक्ति देखा कि आज हमें ये चीज हम पैदा करते हैं बनाते हैं तो मार्केट में बड़ी डिमांड उसकी है लेकिन उसको ये भी देखना पड़ेगा दो सौ फैक्ट्री तो यार साल छह महीने की थोड़ी लग रही है दस साल के बाद क्या होगा पंद्रह साल बीस साल के बाद क्या होगा कि उस वस्तु की डिमांड तब तक बनी रहेगी ये भी देखना पड़ेगा तो कितनी बातें सोचनी पड़ती हैं उसकी तब इस प्रकार प्लानिंग होती है तो व्यापक बुद्धि रख करके जितनी दूर तक की बात करके सोच सकता है उतनी बुद्धि श्रेष्ठ है महान है और उसमें सफलता भी उतनी इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान कौशल नरेश हैं उन्होंने जो सीता जी के अग्नि में प्रवेश की बात की वो केवल इतनी नहीं कि सीता जी के मन में उनके प्रति आ गया तो उनके मन में सीता जी के दूषित भाव है तो उसकी चलो परीक्षा कर लो बस इतनी मात्र संकुचित बुद्धि से उनकी परीक्षा की वो सो बात नहीं तो कहते हैं फिर हुआ क्या जब सीता जी उसमें प्रवेश कर गई अग्नि में तब प्रतिबिंब अलौकिक कलंक प्रचंड पावक मंगरे अग्नि तो खूब जल रही थी सीता जी उसमें प्रवेश कर गई तब प्रतिबिंब भी उस अग्नि में प्रवेश कर गए सीता जी मानो उसमें सीता जी प्रतिबिंब रूप थी तो उसी में चली गई यहाँ देखो प्रतिबिंब बता दिया शब्द बोल दिया कि माने उस समय जो सीता जी अग्नि में प्रवेश किए थे दंडकारण्य में प्रतिबिंब रूप थी और उसके बाद में उसमें से प्रतिबिंब निकली और अभी तक प्रतिबिंब रूप सीता ही रावण के यहाँ पर लंका पर रहे अब वो प्रतिबिंब रूप जो सीता थी वो अग्नि में प्रवेश कर तो एक तो प्रतिबिंब समाप्त हुआ बिंब में मिल गया दूसरा फिर क्या हुआ लौकिक कलंक लौकिक कलंक लोग बाग इस प्रकार के हैं लौकिक कलंक में संसार बोलेगा यद्यप उनको कलंक कोई इस प्रकार का दोष नहीं है लेकिन समाज में भी तो इस दृष्टि में भी तो कलंक होता है हाँ? उस कलंक से भी बचने का प्रयास करें तो लौकिक कलंक भी जो सीता जी उसमें प्रवेश कर गए तो वो भी कलंक समाप्त हो गया अब कोई ये नहीं कह सकता कि सीता जी जो है वो हो उनमें किसी प्रकार का दोष है अगर दोष होता तो अग्नि में कैसे प्रवेश कर जाती निर्भय होकर किस प्रकार भी तत्व लौकिक कलंक प्रचंड पादक मनो जड़े जो ज्वाला जो जल रही थी उसमें सब जल करके समान दोनों बातें खत्म हुई लौकिक प्रचंड उधर तक तो लोक की दृष्टि से लौकिक कलंक समाप्त हो गया और उधर सत्य की दृष्टि से जो प्रतिबिंब रूप सीताजी उसमें प्रवेश करके बिंब रूप सीताजी उसमें प्रकट हो जाते हैं तो प्रभु चरित्र का न लखे भगवान ये सब जो चरित्र कर रहे हैं इसको लखेगा ना कोई समझ नहीं पाया कि भगवान क्यों इस प्रकार से सीता जी को अपने प्रवेश करा रहे हैं ये बात नहीं समझ में आया क्या तो सुरक्षित मुनि देख नहीं कर देवता भी खड़े खड़े देखते रहे और ये मुनि सिद्ध लोग जो भी जानते रहे लेकिन भगवान का इस रहस्य को तो वो भी आप देखो इतने स्पष्ट शब्दों में जहाँ सीताजी के अन्य प्रवेश की बात आती है जो भी लोग आक्षेप करते हैं फिर भी इस कथा सुनी ही कथा ये सब रामायण पढ़ेंगे नहीं अपने मन से कहेंगे देखो भगवान राम ने ऐसा गर्व काम किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्होंने क्यों ऐसा किया अब ऐसे टीका मुस्ती मोटी बुद्धि की बात लोग बाग इस प्रकार से हाय हाय करते हैं उनके जितनी रामचरित मानस का लोग बात शंकाएं करते रामचरित मानस को सावधानी पूर्वक पढ़े तो उनकी शंकाएं उतनी न वो तो बिना पढ़े कथा सुनते हैं और कथा में सब बातें ये आती नहीं है कहानी कहानी कहीं संक्षेप में उन्होंने सुन ली तो बस सुनने के आधार पर उनकी क्षमताएं उत्पन्न हो गई आया कर तो धरे रूप पावक पानी गहे श्री सत्य सत्य जग विदित जो धरे रूप पावक अब अग्नि ने किया क्या कि अग्नि तो जैसे ज्वाला चल रही तो अग्निदेव रूप धारण करके पुरुषा का रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने क्या किया पानी गहरी सीता जी का हाथ पकड़ करके भगवान श्री राम जी को सौंप दिया श्री सत्य श्री मने लक्ष्मी सीता जी जो श्री है लक्ष्मी है वो सत्य श्री मैंने प्रतिबिंब रूप नहीं जो जो अभी यहाँ पहले उन्होंने प्रवेश करा दिया था तो सीता जी को उन्होंने लेकर के उनके सामने दे दिया श्रुति जग विदित जो जो श्रुति विदित सीता जी लक्ष्मी जी और जो सारा संसार जिनको जानता उस और ये तो ये तो प्रतिबिंब रूप की ने कोई जानता नहीं था तो कहते इस प्रकार से अब अग्निदेव ने जो वास्तविक सीता जी थी उनको लेकर के भगवान श्री राम जी को सौंप दिया कैसे सौंप दिया मानो ये कथा पुनरावृत्ति हुई जैसे पूर्व काल में क्या हुआ था जिम क्षीर सागर इंद्रिया राम ही समर्पिया जैसे क्षीर सागर का मंथन हुआ तो उसमें लक्ष्मी जी प्रकट हुई और विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समुद्र ने लेकर के दे दी समुद्र ने क्या किया लक्ष्मी जी को लाया वो ला करके प्रकट हुआ और आकर शरीर धारण करके करके और लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ के विष्णु भगवान को ने सौंप दिया ऐसे कथा तो जैसे शिव सागर ने लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान को सौंपा इसी प्रकार से अग्निदेव ने सीता जी को अग्नि से निकाल करके भगवान श्री राम जी के हाथ में सौंप दिया मैंने वो कथा एक बार फिर सुना इसी प्रकार से घटना घटी उस तो समय पहली बार जो लक्ष्मी जी थी वो दुर्वासा के साथ के कारण उनकी कुटित होने के कारण वो समुद्र में जा पड़ी तो समुद्र की आ रही इतने समुद्र मंथन हुआ तब वो निकल करके वो फिर समुद्र में उनको सौंप दिया इसी प्रकार से लौकिक कलंक से बचने के लिए कितने दिन तक सीता जी को अग्नि में रखा गया था अब वो लौकिक कलंक की बात समाप्त हो गई सीता जी बात हुई सीता जी निकल करके अग्नि में से निकल करके फिर प्रकट हो गई और उसको लेकर के अग्निदेव ने भगवान श्री राम जी को अर्पित कर दिया सो तो राम बाम विभाग राजत शोभावली अब कहते हैं वो सीता जी जो है भगवान श्री राम जी के बाम भाग में सुशोभित जैसे सीता जी वहां से प्रकट हुई भगवान श्री राम जी ने उनको स्वीकार कर लिया जहाँ भगवान श्री राम जी बैठे थे सीता जी उनके बाम भाग में बैठ गए बाम भाग में बैठ गई तो मैंने वो सीता जी को स्वीकार ये देखो ये अपनी भारतीय संस्कृति कुछ विधान शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया तो सती का त्याग कर दिया तो कैसे पता चला भगवान श्री शंकर जी ने तो सती को बाम भाग में बैठने नहीं दिया जहाँ कहीं हो सीता सती जी आवे तो कहने बैठो उनको सामने बैठा बाम भाग में बैठने नहीं दिया सती जी समझ गई हमारा त्याग हो गया जहाँ बाम भाग में बैठा लिया समझ गए कि हमें स्वीकार कर लिया तो तो ये तो संस्कृतियों के कुछ प्रतीक लक्षण है विधान है उस प्रकार का तो भारतीय संस्कृति का इसी प्रकार का है कैसे तो यहाँ कहते हैं भगवान राम ने सीता जी को स्वीकार कर लिया सो राम दाम भाग राजती रुचि अति शोभा भली अब कहते हैं भगवान श्री राम जी और सीता जी दोनों बैठे हुए हैं तो बड़े सुंदर लग रहे हैं अब कैसे सुंदर लग रहे हैं उसका एक उदाहरण देते हैं कहते हैं नव नील नीरज निकट मानव कनक पंकज की कली नीरज के माने कमल और नील नीरज के माने नीला कमल और नव नीरज के माने नया खिला हुआ नीला कमल ये तो हो गए भगवान राम उसके समान और पंकज के माने ये भी कमल हाँ? और कनक पंकज माने स्वर्ण के समान रंग वाला पंकज कमल तो कमल स्वर्ण के समान भी गुलाबी रंग का भी होता है संकट नील कमल भी होता है अब एक सरोवर में दो कमल निकले हो एक नीला कमल निकल आवे हरियाणा निकला हो और दूसरा एक लाल कमल निकल आवे गुलाबी रंग का कमल निकल आवे और वो जो है वो कमल भी कैसा कली भगवान राम तो उनका नया खिले हुए कमल की तरह से और सीता जी कली के कमल अभी देखो दोनों को जो ये एक कमल और एक कली कली क्या हो गया अब भाई कमल तो पुल्लिंग है अब अगर सीता जी को भी कमल कह दो हैं तो बचाओ पुल्लिंग से तो क्या करो हैं हम उनको तो कली अब कभी कभी भी तो बड़ा मुश्किल होता है कभी को तो लिखते लिखते सब बातें सोचने इस प्रकार अब ये तो कथा होगी पौराणिक कि किस प्रकार से सीता जी जो अग्नि में जात प्रवेश करती हैं कैसे प्रकट होती हैं अपने वेदांत शास्त्र में ज्ञान को कहा गया है अग्नि ज्ञान अग्नि वस्तु साधु को देवता अग्नि अग्नि जो है वो ज्ञान की प्रतीक और सीता जी का उसमें प्रवेश करना और उससे निकलना ये उनका शुद्ध होना लौकिकरण का समाप्त होना कैसी है जैसे कि ज्ञान प्राप्त होने पर जीव का समस्त मन साफ हो जाता है